ओह पता नहीं क्या हो रहा है फोन रखने के बाद विक्रांत काफी चिंतित नजर आ रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे अचानक से मुसीबत उसके सामने आ गई पिछले दिन से ही विक्रांत के दिमाग में सिर्फ गाजियाबाद मर्डर केस ही चल रहा था वो इस केस के बारे में सोचते हुए कुछ इस तरह से डूबा हुआ था कि आज के दिन वो अपने अदृश्य शक्ति के कोडवर्ड को भी नहीं चेक कर पाया अब जाकर जब उसे कमांडिंग ऑफिसर अनूप सहगल ने कॉल करके केरल फिल्म के क्रू के मर्डर केस के बारे में बताया तब जाकर विक्रांत का ध्यान अदृश्य शक्ति की तरफ गया उसे तुरंत एहसास हुआ कि अदृश्य शक्ति ने उसे जरूर कोई न कोई सिग्नल दिया होगा उसने तुरंत ही अपने आज के दिन के कोडवर्ड को चेक किया उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से आज पृथ्वी और पहाड़ शब्द दिया गया था कोडवर्ड का ये कम्बिनेशन बहुत मुश्किल था विक्रांत को जब जब ये कोडवर्ड मिला था तब तब कुछ न कुछ बहुत बड़ा केस होता था ऐसे में आज फिर से उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और पृथ्वी कोडवर्ड एक साथ मिला था तो इसका मतलब ये था कि जरूर कुछ न कुछ बड़ा केस होने वाला है कुछ देर तक अनूप सहगल के साथ फोन पर बात करने के बाद विक्रांत ने अपनी गाड़ी को रोड किनारे लगा दिया वहीं अनुष्का हर्षित और हर्ष इस वक्त काफी हैरत में पड़कर विक्रांत को देखे जा रहे थे उन्हें ये तो अनुमान लग गया था कि कोई ना कोई बड़ा केस हुआ है हालांकि अभी उन्हें भी इस केस के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी वो लोग बड़ी उत्सुकता से विक्रांत के फोन रखने का इंतजार कर रहे थे जब विक्रांत ने फोन रखा तब तुरंत ही अनुष्का ने उसकी तरफ देखते हुए कहा ये हर बार हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है जब भी हम लोग किसी नए केस पर काम करना शुरू करते हैं दूसरा केस कहां से आ जाता है अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए बड़े ही कंफ्यूजन के साथ सवाल किया सर कहीं फिर से तो कोई नया केस नहीं आ गया है क्या हुआ सर क्या चल रहा है हर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर सवाल किया हुआ क्या है सर ये तो बताइए हम्म। अब ये हेडक्वार्टर से अनूप सहल का फोन था विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा वो बता रहे थे कि केरल में कोई वरकोला बीच है वहां पर कोई साउथ की एक्ट्रेस थी समंता नाम था उसका उसका मर्डर हो गया समंता मैंने नाम तो नहीं सुना कभी हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जबकि मैं साउथ की काफी फिल्में देखता हूँ अरे ज्यादा फेमस एक्ट्रेस नहीं है बस नॉर्मल एक्ट्रेस है और उसके साथ पूरे फिल्म क्रू का मर्डर हुआ विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा ओ मतलब सीरियल मर्डर हर्ष ने आंखें बड़ी करते हुए सवाल किया मतलब बड़ा केस है लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग हमें क्यों इस केस पर लगा रहे हैं केरल का केस है और वहाँ की लोकल पुलिस क्या कर रही थी अनुष्का ने भी कंफ्यूजन में सवाल किया अरे वहाँ की लोकल पुलिस तो गई ही होगी उन लोगों ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट तो किया ही होगा विक्रांत ने बताया लेकिन क्या है ना वहाँ की लोकल पुलिस ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही होगी और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मर्डर केस है एक साथ पूरी फिल्म क्रू के लोगों का मर्डर हुआ है केस बड़ा है इसलिए सीधे केरल पुलिस हेडक्वार्टर से ये केस सेंट्रल सीआईडी के पास ट्रांसफर हो गया और सेंट्रल सीआईडी में इस वक्त हम लोग बहुत लाइट में चल रहे हैं जब से वो हेडलेस फीमेल वाला मर्डर केस सॉल्व हुआ है तब से उन्हें लगता है कि पूरे सेंट्रल सीआईडी डिपार्टमेंट में हमसे ज्यादा होशियार कोई है ही नहीं तो बस ये हमारी होशियारी का ही इनाम है लेकिन सर हर्ष ने अपने फोन पर मुंबई के केरल के वर्कला बीच के बीच की डिस्टेंस को चेक करते हुए कहा सर यहाँ से वर्कला तो लगभग 1800 किलोमीटर है हम लोग को फ्लाइट लेना पड़ेगा भाव भाव गाड़ी में बैठा हुआ शैलॉक होम्स अचानक से भौंकने लगा ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर्ष की सारी बात समझ में आ रही थी और वो फ्लाइट में बिल्कुल बैठना नहीं चाहता था इस वजह से अचानक वो भौंकने लगा सर ये बताइए वहाँ पर टोटल कितने लोगों का मर्डर हुआ है अनुष्का ने कुछ सोचते हुए सवाल किया पता नहीं अभी तो बस इतना ही पता लगा है कि फिल्म के क्रू का मर्डर हुआ है कितने लोग मरे हैं और कितने जिंदा हैं इसका पता तो वहां पहुंचने के बाद ही लगेगा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन हाँ ये जरूर है कि केस बहुत बड़ा है इसी वजह से हमें अर्जेंटली वहां पर भेजा जा रहा है और मुझे फोन पर अनूप ने बताया कि बहुत जल्दी वो हमारे पास केस की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन भेज देंगे और फॉरेंसिक वाले काम के लिए वो लोग इमरजेंसी चौटाला को भी भेज रहे हैं इमरजेंसी चौटाला पहुंचकर वहां सारी रिपोर्ट हमें दे देंगे वाह हर्षित हैरानी में पड़ गया इमरजेंसी चौटाला का नाम सुनते ही वो शॉक्ड रह गया इमरजेंसी चौटाला वो भी आ रहे हैं इसका मतलब ये नॉर्मल केस नहीं है पक्का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है अब देखो क्या होता है लेकिन हर्ष ने कुछ सोचते हुए कहा ये ये फिल्म क्रू वाले शूटिंग के लिए इतने आउटर में क्यों गए थे आज के टाइम में तो फिल्म की पूरी शूटिंग सेट पर ही हो जाती है वो हरे रंग का पर्दा वगैरह लगाते हैं और फिर उसके सामने हर लोकेशन की शूटिंग कर लेती है फिर इन लोगों को बीच पर शूटिंग के लिए जाने की क्या जरूरत हुई जहाँ तक मुझे पता है कि फिल्म के छोटे से छोटे क्रू टीम में कम से कम दस बारह लोग तो होते ही हैं अनुष्का ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा तो क्या एक साथ दस बारह लोगों का मर्डर हो गया और अगर ऐसा हुआ है तो फिर फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली है मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग इतनी आसानी से ये केस सॉल्व कर लेंगे अरे ये कोई वीडियो गेम थोड़ी ना चल रहा है कि इतने लोगों का एक साथ मर्डर हो गया एक साथ इतने लोगों को मारना कोई मामूली बात थोड़ी ना है हर्ष ने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा क्यों क्यों आसान नहीं है जहर दे दो सबको एक साथ सब खत्म अनुष्का ने जवाब दिया तुम दे दो जहर सबको ट्राई करो एक बार देखो कितने लोग मरते हैं हर्ष कभी भी अनुष्का का मजाक उड़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ता था मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि इन लोगों का मर्डर जहर देकर नहीं हुआ है बल्कि किसी और तरीके से इन्हें मारा गया है अरे रे रे रुको रुको विक्रांत ने हर्ष और अनुष्का को चुप कराते हुए कहा जब तक केस की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते पहले हम लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं फिर वहां जाकर जब सब कुछ खुद देखेंगे तो समझ में आएगा इसके बाद विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा हर्षित तुम फटाफट वर्कला की फ्लाइट बुक करो विक्रांत के कहते ही हर्षिल ने अपना लैपटॉप निकालकर उस पर उंगलियां चलाना शुरू कर दिया सर अभी यहाँ मुंबई से ग्यारह तीस की फ्लाइट है और ये हमें दो घंटे में त्रिवेंद्रम पहुंचा देगी उसके बाद वहां से हम एक घंटे में वर्कला पहुंच जाएंगे ठीक है तुम तुरंत तीन टिकट बुक करवाओ फ्लाइट का विक्रांत ने जवाब दिया तीन टिकट हर्ष ने कन्फ्यूज होते हुए कहा सर हम कुल चार लोग हैं चार होगा ना विक्रांत हर्ष की तरफ देखकर हंसने लगा उसने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा अनुष्का तुम फटाफट एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करो ओके सर अनुष्का ने तुरंत ही सिरे लाते हुए कहा हर्ष ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना तुम्हारे पास विक्रांत ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा हाँ है तो लेकिन क्यों हर्ष ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा कुत्ते तुम्हें पसंद है ना बिल्कुल नहीं हर्ष ने अपना सिर नाम हिलाते हुए कहा लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं ओह फिर तो तुम्हें कुत्तों से दोस्ती करनी सीखनी पड़ेगी विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें मैं समझा नहीं सर ऐसा है तुम गाड़ी लेकर वर्कला पहुंचो और ये मेरा शेरलॉक भी तुम्हारे साथ आएगा आराम से आना गाड़ी और शेरलॉक दोनों का ध्यान रखना विक्रांत ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा सर मैं अकेले सर यहाँ से 1800 किलोमीटर है वर्कला कैसे आऊंगा मैं हर्ष ने बिल्कुल परेशान होते हुए कहा अरे गाड़ी दे रहा हूँ पेट्रोल और खाने का खर्चा भी दे रहा हूँ आराम से आना रोड ट्रिप करते कोई जल्दी नहीं है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन सर हर्ष कुछ कहता उससे पहले ही विक्रांत गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया उसके साथ ही हर्षित और अनुष्का भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया अब तक कैब आ चुकी थी विक्रांत ने अपनी गाड़ी से सामान भी नहीं निकाला वो खाली हाथ कैब में जाकर बैठ गया उसके बगल में हर्षित भी कैब में सवार हो गया अनुष्का ने हर्ष के पास जाकर खिड़की से उसे देखते हुए कहा बाय द वे यहाँ से वर्कला सिर्फ सोलह सौ पचास किलोमीटर ही दूर है आराम से आना हैप्पी जर्नी <laughs> अनुष्का भी आकर कैब में बैठ गई और फिर ये लोग तुरंत ही एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल पड़े अभी विक्रांत और उसके साथ हर्ष और अनुष्का फ्लाइट पकड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि वर्कला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी के एसपी साहब मिस्टर पी के मुथु घटनास्थल के लिए निकल चुके थे एसपी साहब के क्राइम सीन पर आने की खबर सुनकर वहां पर हड़कम मचा हुआ था क्राइम सीन पर पहले से ही वर्कला के senior inspector mister B Ashokan पहुंचे हुए थे उन्होंने एसपी साहब को केस की रिपोर्ट देने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी एसपी साहब जैसे ही क्राइम सीन पर पहुंचे वहां पर तैनात सीनियर इंस्पेक्टर बी अशोकन की तरफ देखते हुए बोल पड़े कितना मर्डर हुआ अभी तक कितनी लाश मिली है सर अभी तक तो पांच डेड बॉडी मिल चुकी है लेकिन टोटल कितने मरे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे बी अशोकन ने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कहा ओह एसपी साहब ने भोंटेडी करते हुए कहा इसका मतलब अभी और भी डेड बॉडी मिल सकती है मतलब और भी मर्डर हुआ है